प्रयाणप्रसङ्गे भाग्यके विषये षट्त्रिशतमाध्याये अष्टममतः पठिते व्याख्या आज के छत्तीसवें अध्याय का आठवां मंत्र पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या की माता ये मंत्र से हम विविध प्रकार की विद्या को ग्रहण करते हैं इंद्र विश्व राज इंद्र नाम ईश्वर का है इंद्र ऐश्वर्य धातु से इंद्र शब्द बनाते हैं ईश्वर का ऐश्वर्य इतना महान है इतना बड़ा है से कितने भी कल्पना करे तो भी ईश्वर के संपूर्ण ऐश्वर्य को नहीं जान सकता हम यदि कुछ अंश में ईश्वर के ऐश्वर्य को जानना चाहते हैं उसका विचार करें उसको समझें ऐश्वर्य क्या चीज है एक परिणाम सामने आता है बल का नाम ऐश्वर्य है विद्या का नाम ऐश्वर्य है आनंद का नाम ऐश्वर्य है इसी प्रकार से इन बातों को कहते चले जाइए इनको हम ऐश्वर्य कहते हैं ईश्वर में अनंत आनंद है ये ईश्वर का ऐश्वर्य है अनंत ऐश्वर्य आनंद सुख बहुत थोड़ा है आत्मा समाधि के माध्यम से जो आनंद को प्राप्त करता है वह ईश्वर के सारे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता उसमें से थोड़े को ही पकड़ पाता है उसी का उपभोग करता है अनंत ज्ञान ईश्वर का ऐश्वर्य है आत्मा अपने ज्ञान को बढ़ाता बढ़ाता उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है महान तत्ववेता बन जाता है तो भी इसका ज्ञान रूपी ऐश्वर्य थोड़ा सा ही होता है ईश्वर का ज्ञान अनंत है ईश्वर को न मानने वाले भी यही कहते हैं ज्ञान की कोई सीमा नहीं पर वो ये नहीं जान पाते जिस ज्ञान की सीमा नहीं है वह ज्ञान कहां पर रहता है ये नहीं जान पाते निरीक्षण करो और अपने आत्मा को समझो परिणाम ये निकलेगा मैं भी ज्ञानवान हूं मैं जानता हूं मैं ज्ञानपूर्वक विविध कार्यों का संपादन करता हूं समाज के कामों को करता हूं ऐसा जानने से पता चलेगा कि मैं ज्ञानवान हूं क्या पता चलेगा या आपके मन में बात नहीं बैठती कि मैं ज्ञानवान हूं बैठती है आप व्यवसाय करते हैं खेती करते हैं दुकान करते हैं अध्यापन करते हैं भवन बनाते हैं ये सारा का सारा काम बिना ज्ञान विज्ञान के हो ही नहीं सकता और हम स्वयं भी अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानी भले ही मैं थोड़ा जानता हूं पर मैं जानता हूं इसे पता चला मैं ज्ञानी ज्ञान का आधार मैं पता चला जैसे ज्ञान का आधार मैं हूं ऐसे ईश्वर भी ज्ञान का आधार है ये बात समझ पाते ये समस्या है ईश्वर और ज्ञानवा ईश्वर और वो विद्वान ईश्वर और वो ज्ञान देने वाला ये कैसे दिखेगा दिमाग इसको जानने समझने के लिए स्वयं को समझना पड़, पड़ता है यद्यपि इस ओर से देखो पहले प्रकृति मोटी चीज समझ में आती है फिर उससे सूक्ष्म जीव समझ में आता है और फिर उससे सूक्ष्म अब मोटे से मोटी बात है कि ये पेड़ है बच्चा देखता है पांच वर्ष का बच्चा पानी पी लेता है अग्नि में हाथ सेकता है तो वो इन चीजों को एकदम जान लेता है तो ईश्वर को समझने के लिए अपने आप को आत्मा को समझना चाहिए यदि हमको समझ में आ गया कि मैं ज्ञानवान हूं मुझ में ज्ञान है जैसे मैं ज्ञानवान हूं ऐसे ईश्वर भी ज्ञानवान है अब जब ईश्वर ज्ञानवान है ये आप अनुभव करेंगे तो ईश्वर से मिलने का वैसा ही प्रयास करेंगे जैसे किसी ज्ञानवान या विद्वान से मिलने का करते हैं गहराई में जाना पड़ेगा इधर उधर ध्यान हुआ तो समझ में नहीं आएगा आत्मनिरीक्षण करके देखो या हम एक विद्वान से जब मिलते हैं बातचीत करते हैं वो हमारी सारी बातें समझता है हम सोचते हैं कि हम इसके सामने खड़े हैं क्या आप ईश्वर से जब प्रार्थना करते हो स्तुति जब ऐसा अनुभव होता है क्या बताओ होता है क्या प्राय विशेष साधकों को छोड़कर नहीं होता क्यों नहीं होता आपने विद्वान की भांति परमात्मा को ज्ञानवान स्वीकार नहीं किया इन दृष्टांतों के माध्यम से यदि आप प्रयास करते तो जगता ही कि जैसे मैं ज्ञानवान हूं और चेतना आत्मा के बिना ज्ञान कहीं रह नहीं सकता ऐसे ही ये अनंत ज्ञान बिना चेतन के रह नहीं सकता अनंत ज्ञान है इसमें विकल्प नहीं है भौतिकवादी वैज्ञानिक भी ये मानते हैं ज्ञान की कोई सीमा नहीं अच्छे वैज्ञानिक ये कह बैठते हैं हम तो थोड़ा सा जानते हैं हमें कुछ भी जैसा नहीं जानते जो अच्छे वैज्ञानिक निर्भिमानी है इस रूप थोड़ा सा जानने वाले वो तो कुछ अपने को ही मानते हम एक बहुत बड़े परिणाम पर पहुंच रहे हैं ये गुण है जैसे हमारा ज्ञान गुण है ऐसे ईश्वर का भी ज्ञान चेतन तत्व को छोड़ करके ज्ञान कहीं भी नहीं रह सकता दोहरा लो चेतन पदार्थ को छोड़ ज्ञान कहीं भी नहीं रह सकता और ज्ञान अनंत है और चेतन दो जीवात्मा चेतन और ईश्वर चेतन अनंत ज्ञान जीव में रह नहीं सकता अब कोई न कोई इसको इसका ठिकाना आधार मानना पड़ेगा इसे सर्वव्यापक परमात्मा में ही ये अनंत ज्ञान रह सकता है इसलिए ज्ञान ईश्वर का ऐश्वर्य है ऐश्वर्य है ईश्वर का ऐश्वर्य ज्ञान है और ईश्वर का ऐश्वर्य आनंद आनंद है और ईश्वर का ऐश्वर्य बल है अब बात वही आके खड़ी हो गई भाई ईश्वर में बल कैसे रहेगा इसमें भी बल रहता है इनमें भी में भी बल है दीवार में भी बल है इस चबूतरे में बल है तभी तो मैं इसके ऊपर बैठा हूं अब यहां जो है कुछ दीख नहीं रहा यहां बल कैसे रहेगा हुँ? हम्म? फिर जीवात्मा वहीं दौड़ा ये हाथ है ना दिखता आपको वादी की तरह देख रहे हो ना वादी के देखो हाथ है ना ये है? है? देखो अब ये उठेगा स्वयं उठेगा या चाहिए इसको कौन उठा रहा है तो बल है तो है अब जो जीवात्मा में बल है वो दिखाई देता नहीं तो परमात्मा में भी ये चलो गया या नहीं हुआ है सदैव है अब ध्यान देखो इन दर्शनों के पढ़ने से उपनिषदों के पढ़ने से योगाभ्यास पढ़ने से ऐसी ऐसी सूक्ष्म विद्या समझ में आती है मैंने भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ा ऋषियों का विज्ञान भौतिक पढ़ा अर्थात भौतिक पद्धति से उन परिभाषाओं में मैंने नहीं पढ़ा पर दर्शन और इनके माध्यम से भौतिक विज्ञान पढ़ा तो सिद्ध हुआ जैसे जीवात्मा में बल है वैसे ईश्वर में ही बल है और जीव में अल्प किंचित बल है पर ईश्वर में अनंत बल है कोई सीमा नहीं वैज्ञानिकों की कथा सुनो और वो भरपूर लोक लोकांतर कैसे नियम में चल रहे हैं उन्होंने कितने सूर्यों की खोज की एक आकाश गंगा में दस अरब सूर्य ऐसी ऐसी दस अरब आकाश गंगा खोज डाली हमने कहा ये गंगा कितनी लंबी होती है आकाश गंगा कहते हैं इसका एक किनारा और दूसरा किनारा इतना लंबा होता है वहां से प्रकाश चले और वो एक लाख वर्ष में वहां पर पहुंचे इतनी लंबी एक आकाश गंगा एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर गति प्रकाश की है कितनी है और एक किलोमीटर कितनी होगी तीन साठ एक करोड़ अस्सी हजार इतना और सूर्य का प्रकाश लगभग आठ मिनट में यहां पहुंचता है फिर लगभग पंद्रह करोड़ किलोमीटर और एक आकाश गंगा के किनारे से प्रकाश चले और उसके दूसरे किनारे पर पहुंचने में लाख वर्ष लगेंगे कल्पना कीजिए आप टकराएगा दिमाग ये ध्रुव तारा है कहीं सुना था लगभग सुनी हुई बात है ये इतनी दूरी पर है जो उत्तर भारत इसके भाग में रहता है पता नहीं छत्तीस वर्ष में इसका प्रकाश भूमि पर पहुंचता है कहा झोपड़ी में बैठे पंपी के लोग तो कोठी को ही सब कुछ मानते <laughs> आगे कोठी पीछे कोठी ऊपर कोठी नीचे कोठी कोठी ही कोठी भगवान को देखो कुछ तो समझ लो भगवान को कम देखो ना ईश्वर का ऐश्वर्य अनंत क्रिया अनंत क्रिया ईश्वर के अंदर है क्रिया जीवात्मा में भी अर्थात क्रिया का मतलब जीवात्मा क्रिया करता है करता नहीं करता है और ये सारा संसार ऐसी क्रियाओं से बुद्धिपूर्व क्रियाओं से ये रचा है बनाया है और ये अनंत क्रिया ईश्वर में ईश्वर की सारी क्रियाओं को कोई नहीं जान सकता कैसे कैसे प्राणी बनाए हैं चिड़ियाघरों में देखो और फिर जंगलों में देखो पानी में देखो कैसे कैसे रचना की है कैसे कैसे उनका मुंह बनाया है टांग बनाई है पता ही नहीं कैसे बनाया एक चिड़ियाघर में देखने गए और एक वृक्ष लक्षण से इसे खड़े कर रखे और उनमें एक गेंद ही दिखाई दे रही है गेंद होती है ना जी ये क्या है ये भी एक प्राणी है बाढ़ के बिल्कुल जैसे गेंद टांग रखी हो उसका मुंह अंदर घुसा हुआ और पता नहीं क्या था वो कैसे था तो इंद्र इंद्र नाम ईश्वर का है अनंत ऐश्वरी ईश्वर के पास विश्व से राजती ये विश्व जो है इसको प्रकाशित कर रहा है और याद रखना शब्द का प्रयोग हुआ है ईश्वर के लिए वह भौतिक प्रकाश नहीं है ये भ्रम है लोगों को ये परमात्मा प्रकाश की भांति दिखाई देता है और ये लोग कहते हैं भगवान ज्योति बिंदु है हमारे गुरु जी को ज्योति बिंदु के रूप में दिखाई दिया था और वो भगवान परम धाम में रहता है ये सब की बुद्धि को बिगाड़ने के सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं भारत भर में भारत का विनाश दोनों तरह पुरुषार्थहीन बना दो झूठा बाजेबाजी बना दो झूठे भगवान के पीछे लगा दो झूठी पूजा सिखा दो धन वहीं झुकेगा ये बताओ बचेंगे कैसे हम सन्ना अस्तु सम कहते सुख हे ईश्वर है सम न अस्तु हमारे लिए सुख हो गए और द्विपदे दो पैर वाले पुत्र लड़के लड़की दो पैर वाले मनुष्य द्विपदे पर याद रखना वेद कहता है चतुष्पदे चतुष्पदे का मतलब गधा घोड़ा गऊ ये वेद की दया है इन नास्तिक लोगों को राजनीति वालों को कोई दया नहीं आती पशुओं को गाजर मूड़ी की तरह काटते तड़पा तड़पा के मारते इनके लिए कोई संविधान नहीं है चतुष्पदे के लिए द्रौपदी को भी नहीं छोड़ रही मुर्गी द्रौपद वाली है तो अब कई द्रौपदे आते आते हमारा नंबर नहीं आ जाए द्रौपदी देखो वेद का संदेश है कि दो पैर वालों के लिए समस्तूत आनंद बोले और चतुष्पदे सभी मुझसे आनंद हो ये भावना वेद को जानने मानने वाले ईश्वर के समझने वाले विश्व के लिए कर सकते हैं ईश्वर को न मानने वाले और गलत ईश्वर को मानने वाले पदे चतुष्पदे का बात धरती पर नहीं उतार सकते ऋषि ने कहा इसी में कि ये मंत्र ये बताता है पर याद रखना ऐसा जो परमात्मा है ये क्या कहता है मंत्र ऐसा जो परमात्मा है उसकी उपासना करो ऐसा जो परमात्मा है इसलिए हम ईश्वर के ऐश्वर्य को समझें इंद्र विश्व सराज और सन्नो अस्तु द्विपदे सन् सदुष्पे ये भावना लेके आगे बढ़ो और स्वयं को आस्तिक अपनी नास्तिकता को उखाड़ो पहले अंदर से और फिर समाज राष्ट्र की नास्तिकता को उखाड़ा ये दृढ़ निश्चय करके चलना चाहिए और इसी में हमारा कल्याण है हम कुछ विश्व को दे सकेंगे अब इसको यहीं पर ग्राम